ननु कृष्यादी नाम तत्वानुसंधान विघातित्वेरा त्याज्य से भोजनार्पी तथा तदपि त्याज्यम पक्षी कहते हैं महाराज ये कृषि आदि तत्वानुसंधान करने में विघाती होने से त्याग करना चाहे कार्य हो तो भोजनादि में भी विक्षेप होगा और वेदांत उपयोगी तो भी नहीं है वो भी तत्वानुसंधान विघाती है नहीं तो गड़बड़ होगा ब्रह्मा से तो कहीं इधर से उधर चला जाएगा हाथ तो फिर मुंह में नहीं जाएगा पूरा ध्यान देना पड़ता है मुंह में जाए हाथ इसलिए भोजन आदि निश्चित रूपेण सत्तानुसंधान विघातक होने से त्याज्यम एवं भोजनादि वेदांति को त्याग देना चाहिए क्या कहता है भोजन से चिंता ही नहीं रहोगे तो वेदांत चिंतन क्या करोगे तुम तो यह है कि भोजनादि कई घंटों नहीं लगता इधर कृषि में तो कई घंटे लग जाएंगे रात भर जगना भी पड़ेगा भैंस भर से बचाने के लिए कई झंझट है ना पानी देना है गोड़ाई करना है घास वास हो जाए उसको तो निकालना है दवाएं छींटनी है कई घंटे लग जाते हैं भोजन में तो बस पंचास मिनट की बात है तुरंत वापस सप्ताह तो अनुसंधान में आ सकते हैं ना अरे कृषि में आसक्ति भी हो जाती है यहाँ आसक्ति भी नहीं है जो मिल गया अपना खाया अपने वेदांत में लग गए अंतर है अनुसंधतवात्र तैवात्र भोजनादो प्रवर्तित शक्य अत्यंत विक्षेपा भावादाश पुनः स्मृत है अनुसंधत तैवात्र भोजनादो प्रवर्तित वेदांत अनुसंधान करते हुए भी मैं भोजनादि प्रवृत्त हो सकता हूँ जैसे बारह एक ही जैसे खाओ हवन करते हुए खाओ अमन शिवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा खा सकते भोजन को यज्ञ रूप हो गया ना फिर बोल भी सकते मैंने खाना ही नहीं खाया दुर्वासा महर्षि सब कुछ खा लिया भोजन नहीं खाए सब कुछ खा लो कुछ नहीं खाए क्योंकि आपने खाया नहीं कहा करके भगवान को स्वाहा स्व करते इंद्राय स्वाहा प्रजापति स्वाहा विष्णु गणेश जो मन में आए वो नाम दो और स्वाहा कर दे जाओ सारे भगवान कहीं जिसको नाम देते रहते हजार रोटी खाने सीधा खा सकते हो नहीं इतने देवता हमारे पास सबके नाम ले जाओ खाते जाओ और किसको खिलाया उनको खिलाया आपने खाया ही एक ही कहे यज्ञ हो गया भोजन के कारण जो भूख का निवृत्ति भी हो गई और आपके जो साधना में कोई अवदान भी नहीं हुआ क्योंकि साधना संघ है अनुसंध मात्र भोजना को प्रवर्तम शक्यते और मन बिना अनुसंधान के बिना एक रूप में करते बिना वेदांत चिंतन करते मैं भोजन करता हूं तो फिर भी अत्यंत विक्षय पाता हूं मान सामान्य पशु खाना खाता हूं तो भी कितने देर हो गए पंद्रह मिनट की बात है उसके बाद चिंतन ना करते ना इसे अत्यंत विक्षेप वहां नहीं है आशु पुनः स्मृत है शीघ्र ही पुनः वेदांत स्मृति को आ जाएगा ये कमा इसे भोजन हमारे लिए विशेष बाधक नहीं है चिंतन पूर्वक भोजन हो सकता है अगर चिंतन रहित भोजन करोगे तो भी वह भी अधिक काल तक न होने वाला क्रिया होने के कारण से विशेष बाधक नहीं है अत्यंत विस्मारक नहीं है तत्व का विस्मारक वो नहीं होता टीका अत्यंत विक्षेपाभाव वे भी भी विक्षेप भी क्यों है आंश पुनस्मृत है शीघ्र पुनस्मृति हो जाएगा खा के उठाने वापस वेदांत लौट सकता है तदानी भावे भी तत्व स्मृति विस्मृति भले भोजन काल में विक्षेप नहीं है लेकिन तत्व स्मृति तो है ना उत्तरे से तो विस्मृति तो हो गई तो उत्तरी समय तक भी पुरुषार्थ में हानि हो गई इत्याशंका तो सिद्धांति कहते नहीं तत्व का विस्मृति हमारे लिए परेशानी नहीं है हमारे लिए परेशानी विपरीत भावना है तत्व का विस्मृति पुरुषार्थ का नाशक नहीं है विपरीत भावना हमारा पुरुषार्थ में हानि पर यदि भोजन सत्य तो बुद्धि आ जाए तो खतरा है भोजन काल में तत्व की विस्मृति हो जाए वो खतरा नहीं है लेकिन भोजन सत्य बुद्धि हो जाए वो खतरा आप भोजन को मिथ्या समझ करके मिथ्या व्यवहार हो रहा है मिथ्या भूख है मिथ्या भूख को मिथ्या भोजन खा रहा हूँ मिथ्या खाना हो रहा है ऐसे समझते खाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसे सत्य बुद्धि आ जाए तो मुश्किल कि पुरुषार्थ बाधक कौन है सत्य बुद्धि है इसलिए कहते सिद्धांति तत्विस्मृति मात्रा नानक किंतु विपर्य विपर्य तुम न कालोक्ति झटिति स्मरद क्वचित तत्व स्मृति मात्र से नानर्थ अनर्थ नहीं होता क्यों आप सुषुप्ति में जाते तब भी तो तत्व स्मृति है जो सो जाते कौन सा ब्रह्म ज्ञान याद रहता है सोएगा नहीं उस समय तत्व तो स्मृति होने पर भी कोई आपको दुख हुआ लेकिन क्लेश जो दुख है बंधन है इसका कारण कौन है विपरीत भावना वो नहीं रहता वहां पर जागृत और स्वप्न में ही है जागृत में जगत सत्य है देह में आपत्ति है स्वप्न में भी दृश्यमान परिदृश्यमान स्वाप्रत पदार्थ जगत में सत्यत्व है और उसके बाद दृष्टा होता जो का कारण तो शरीर आदि में आसक्त प्रतिभा भी है ये विपरीत भावना है वो बंधन का कारण है वो हमारे लिए अनर्थ का कारण है वो सुषुप्त में नहीं होता अतएव तथा सुषुप्त तत्व स्मृति होने पर भी हमारे लिए पुरुषार्थ हानि नहीं है उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझो तत्व स्मृति हमेशा इतना अनर्थ कारण नहीं होता किंतु विपर्या और भोजन में विपर्य नहीं हो सकता विपर्य तुम न कालो विपर्य होने के लिए इतना समय नहीं मिलता मौका नहीं मिलता इसलिए महा में क्या करते महात्मा लोग के यहाँ भोजन जब होता है कोई न कोई का श्लोक को सुनाते रहता है वेदांत सुनाते रहो भाई सुनाते रहो तो खाते हुए में ऐसा न हो कि आपके वेदांत की स्मृति हो जाए उससे वेदांत की स्मृति बना रहे कितने कहते भोजन में समय में बोलते रहो कुछ नहीं मंत्र बोलो श्लोक सुनाओ सब संप्रदाय में चलता है श्लोक सुनाने का कोई संप्रदाय के सब कोई चौपाई सुना रहा है कोई अभंग सुना रहा है कोई कुछ सुना रहा है कोई कुछ सुना रहा है तो सुनाने का प्रधान है भोजन पंगत में खाने वाले में भी सुना है क्या कोई अलग खड़े होकर सुना हाँ, परखने वाले सुना सकता है हाँ कोई वो सुना सकते हैं उससे क्या होगा आपको तत्व स्मृति बनी रहेगी उसका लक्ष्य यह नहीं कि पा रहा है कोई और कारण नहीं है लक्ष्य है कि भोजन काल में संभावित तत्व विस्मृति ना हो ये उसका इसलिए कहते हैं कि विपरीय तुम न कालोस्ती तो भोजन काल पर्याप्त नहीं है क्या को तुम विपरीत भावना में खेच ले जाए तो संभावना को भी काटने के लिए स्त्रोत्र पाठ कर लेते हैं ताकि जो है थोड़ा संभावना भी हो वहां पर विपरीत भावना की जगने की संभावना थी भोजन में सत्य तो लड्डू में आस्वाद की शंका है ना भोजन का जो बढ़िया भोजन है आए करके बढ़िया से मजा लेके खा रहे हैं और उसमें आसक्ति हो जाए उसको भी काटने के लिए वो कह रहा है भोगे रोग भयम सुनाता है श्लोक तो दिमाग में था झटका मारता है तो कह रहा भोगे रोग भयम हम तो लड्डू में बड़ा प्यार कर रहे हैं लेकिन तो गड़बड़ा है लड्डू का भोग मत कर मजे मत का भूख मिटाने लगे एक लड्डू खा ले छुट्टी हो गया है जो श्लोक सुना है ना वो तुरंत जगा देता है आपको और खतरा को खतरे घंटी बजा दिया उसने इसलिए श्लोक सुना जाता है ऐसे श्लोक सुनाना है वैराग्य पर श्लोक ज्ञान पर श्लोक आत्मा तुम गिरजा मधि सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि ऐसे श्लोकों को सुना अब आदमी ब्रह्मचारी सोच रहा था तो बढ़िया सुंदर थी उसके शादी कर लेता अब यहाँ सुना रहे नहीं नहीं आत्मा तम गिरिजा मती सहचरा अरे तेरी पत्नी तो तेरी बुद्धि है कहा तो बाहर की लड़कियों के पीछे भाग रहा छोड़ संसार विवेक जगा दिया उसने मैं ही यजमान हूँ मेरी पत्नी मेरी बुद्धि है मेरे संतान मेरे विवेक ज्ञान परिवार परिवार कहा है प्राण शरीर गृह प्राण में शरीर ही घर है मेरा और कोई घर बसाने की जरूरत नहीं कोई घर खरीदने की जरूरत नहीं मेरे को मकान ही मेरा घर है ये निश्चय लो श्लोक सुनते दिमाग में घटित क्या हो गया तत्व स्मृति नहीं हुई इसलिए श्लोकों को सुना जाता है वैराग अथवा ज्ञान इसे वहां भोजन हो विपरीय तो भोजन काल विपरीत का कारण नहीं हो पा रहा झटित स्मरद क्वचित क्योंकि झटित क्या होता है वह स्मृति चल जाती है या कठोर परिषद सुना जाता है कठोर परिषद तो बहुत जबरदस्त है ना कई जो मैं ऐसे देखा हूँ ब्राह्मण बच्चे लोग खड़े हैं और कठोर प्रश्न का पाठ कर रहे हैं महात्मा लोग भोजन कर रहे हैं पूरा ज्ञान और वैराग्य कठोपनिषद में इसलिए कहते हैं वहां विस्मृति का गुंजाइश नहीं जाती न कालो झटिति स्मरण कुछ कुसस्तरी अनर्थ इसे तो विपर्याद अनर्थ अनर्थ विकांत तो विपर्य तत्व की विस्मृति नहीं है विस्मृति से विपर्यो थोड़ी सी विस्मृति आ जाए तो विपरीत भी हो जाएगा उसका कारण कारण तो कार्य है ना विस्मृति हुई विपरीत भी हो जाएगा कहते नहीं नहीं विपरीत गुंजाइश नहीं है कि भोजन काल अल्प काल होता है उस अल्प काल में भी स्मृति बने रहे उसके लिए हम लोग उपाय सेट बना लिए हैं यानी अति वहां विस्मृति नहीं होती भोजन से प्रवृत्त से युवा अभ्यास प्रवृत्त से तत्व स्मरण चिन्ह से उस पर फिर लौटता है कहता है भोजनादि काल में प्रवृत्त होने पर भी तत्व की स्मृति बने रहे उसके लिए आप कुछ उपाय बनाए रखे हो उसी प्रकार से कृषि गोरक्षा वाणिज्य कथा तर्क इत्यादियों के जाल में रहते वक्त भी कुछ तत्व स्मृति को साधन बना लो नहीं और कृषि भी होते रहे और आजकल जैसे कैसेट बजाते हैं ना डेस्क बजा करके वो खेती चला रहा है हल चला रहा है ट्रैक्टर प्रश्न में बैठा हुआ है शब्द चल रहा है और दूसरे जो सिनेमा के गाने सुन रहा है अरे वहाँ वेदांत कथा का डाल भागवत कथा और तर्क चलाओ वेदांत के चलाओ हो सकता है ना है आगे मॉडर्न युग है सारे उपाय हमारे पास है अरे डेप कहाँ चलाऊंगा वो गुड़ाई करना है तो आजकल तो क्या हो गया लॉकी टॉकी आ गया कान में डाल लो सुनते जाओ ऐसे छोटे छोटे जिसमें है डाल दिया तो पॉकेट में डाल लिया कान में डालो वेदांत सुनते हुए खेती करो ऐसा तर्क पूर्व पक्षी दे रहा है नारी का तो स्मृति के साधन बना लो और कृषि गौरक्षा वाणिज्य आदि बोला तो हाँ? नहीं कोई नहीं किया वो सब कहने वाली बात है वो तो आएगा जनक की बात आएगी किसी एक की बात है हाँ, कथा आ गया जनक महाराजा का गृहस्थी का वो गृहस्थी ने तो राजपाट किया और दिन हम भी कर लेंगे हर गृहस्थी कहेगा मैं भी मेरा जनक राजा से कम नहीं हूँ जवाब देंगे उसका तुम तो सब जवाब देंगे तुम भी गृहस्थी में जाओगे तो भी तुम्हारे लिए जवाब दे रहा है यहाँ तुम तो अपने आप को जनक बात समझो कहाँ जनक कहाँ हाँ, कहाँ नामदेव महाराज कहाँ पृथ्वी पत्नी छह बच्चे आठ बच्चे उनके थे तो उसका थोड़ी आप उनके बराबर होते जितने महाराज घूम रहे कीर्तन कर तो उनके बराबर है यहाँ दक्षिणा के लिए लड़ जाओगे गाड़ी बैठ बैठे पहले दक्षिणा मांगते ऐसे देखे नामदेव महाराज कहाँ वो कहाँ चिंतन का उनके नाम पर रोटी सेंक रहे हैं और झूठे उनकी बांध बना गए वो थे हम क्यों नहीं कर सकते अरे तू उनकी क्या है औकात तेरी औकात कहा है तुलना नहीं करना चाहिए अपवाद तो सभी में मिल जाएगा उस अपवाद की तुलना खुद करेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे यहाँ भी कहीं खर्चा है जी जिनका उनका चिंता मत करो अभी तब तो स्मृति अवसर हो नाक नास्ती अन्याभ्यासशालिन प्रकृताभ्यास घातित्वात् बलात् तत्वमुपेक्षते तत्व स्मृतिर अवसरो नास्ती कृषि गोरक्षा वाणिज्य तर्क कार्य इत्यादियों के चिंतन के काल में कार्य काल में तत्व स्मृति का अवसर ही नहीं मिलता क्यों अन्य अभ्यास क्योंकि वो अन्य कार्य में उसके अभ्यास के स्वभाव वाला हो जाता है जब तब अगर तत्व की ओर चिंतन मुख मुख होता ही नहीं प्रत्युत अभ्यास घात पद अन्य नास्ती अन्याभ्यास है नहीं नहीं अन्याभ्यास शालिन अन्य के अभ्यास शालिन केवल तत्वानुसंधान अभाव किंतु काव्यकर्त्याद्यभ्यास तत्वाभ्यास विरोधित तदानीम स्मृतमपि तत्व बलात्पेक्ष प्रयुक्त होता क्या है अभ्यास घातित हमारे वेदांत अभ्यास को घातक क्योंकि बलात् तत्व उपेक्षित बल पूर्वक का क्या करता है तत्व की उपेक्षा करा देता है आप चाहेंगे स्मरण करना भी आपको बलात् उपेक्षा करा देता है इसलिए आप कभी नहीं देखे होंगे यहाँ भी देखे आदमी लड़के वगैरह नौकरी करते हैं काम कर रहे हैं उस समय सुनते नहीं है उधर उधर घूमते रहते सब सुनते अच्छी से पंडित खेती कर रहे हैं पंडित लोग यहाँ ब्राह्मण लोग सब खेती कर रहे हैं लेकिन कितने हैं जो ब्राह्मण खेती करते हुए अपना वेदांत चिंतन कोई करना है कोई इसलिए कहते हैं कि वो वो अन्य अभ्यास ऐसा अभ्यास है वो कि वो आपको तत्व की विस्मृति कराएगा तत्व की उपेक्षा करा देगा बल्कि स्मृति तो कभी नहीं करा तो केवल तत्व अनुसंधान अवसर अभाव तत्वानुसंधान के अवसर का अभाव ऐसा ही नहीं किंतु काव्य के अभ्यास काव्य तर्कादि का अभ्यास है तत्वाभ्यास के विरोधी होने के नाते प्रधान स्मृतम अपनी तत्व यदि उस समय किसी कारण स्मृति में आ भी जाए तो आप क्या करोगे उपेक्षा कर दोगे अनाथ उपेक्षित है बल उपेक्षा ही कर जाओगे जरा तत्वानुसंधान विरोधी वाद व्यवहार से त्याज्यत्व प्रमाणत्व ना इतना ही तत्वानुसंधानी कोई भी वाक है वह त्यागना चाहिए चाहे भाग है चाहे तर्क है चाहे कोई भी चीज जहां भी वेदांत का अनुसंधान का विरोधी है उस चर्चा को त्याग देना चाहिए नहीं त्यागेंगे तो आप वेदांत त्याग दोगे आचार्य को त्याग दोगे गुरु को त्याग दोगे उसे पीछे पड़ जाओगे राम के सुधा ने विरोध किया कई लोग नाराज हो गए छोड़ दिया आना पड़ना है आप हमारे गुरु का विरोधी कर रहे हैं हमारे अंदर आपके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी कि उनके गुरु भाग रहे थे राम सेतु के चक्कर में हमने विरोध होकर हमारे गुरु की प्रवृत्ति का विरोध कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर नहीं आए हम माता ये होता है तो राजनीति में प्रवृत्ति हुई ना धर्म के आड़ में हो रही राजनीति में प्रवृत्ति का नतीजा क्या हुआ वेदांत श्रवण विशेषण भी नहीं हो गया छूट गई ये समस्या इसे वो जो अन्य अभ्यास है वो बलात् आपको तत्व को विस्मृति कराते नहीं बल्कि मौका मिलने पर भी उसकी उपेक्षा करा देगा ये देखने को मिलता है इसलिए कोशिश है अन्य सकल राग व्यवहार वापस बात करें सकल इंद्रियों का उन व्यवहारों को त्याग देना है जो व्यवहार आपके तत्व अनुसंधान का विरोधी है नहीं कहते हैं तत्वानुसंधान विरोधी वाद व्यवहार से त्याजित प्रमाण प्रमाण में श्रुतियों को कर रहे तमेव एकम ज्ञान था आत्मान अन्य वाचो भी विमुंछत अमृत से यदि श्रुति वाक्य मर्थ तब पढ़ते श्रुति मुंडक उपनिषद है इस श्रुति वाक्य को अर्थ पाठ कर श्लोक में देखिए समय वही जानी था संज्ञा वाचो विमुंच यदि वाचो विज्ञापनम तमेव एक विचार तम आत्मनम एव एकम विचार उस आत्मा को मात्र एक को चिंतन करनी चाहिए अन्य वाच अन्य जितने भी शब्द समूह है वाक व्यवहार है इंद्रिय व्यवहार है मनोव्यवहार है सबको विमंचित त्याग देना श्रुतम ऐसे बंधक में तथा अन्य और प्रधानक में भी सारे उपदेश दे करके कहता है तो मैत्री को नानुध्याय बहुन शब्दान वाच्य विकलापन नेता जितना मैंने उपदेश दे दिया तुम कहे मैत्री बस इसी का चिंतन करो इससे अन्य किसी भी चीज का चिंतन करना वाणी और मन का व्यर्थ परिश्रम होगा ऐसे उसको मत ऐसे उपदेश भी चला नानुध्याय बहुन शब्दान वाच्यो विद्लापनमित इतनी वाक्यम श्रूयते क्या न तत्वानुसंधान अतिरिक्तम आहारादि यथा न त्याज्यते एवं इतर की क्रियता आग्रह कुरवाणी कृपया फिर भी कोई जुर आग्रह कर रहा है नहीं मारा महाराज इसे भोजन कर सकता हूं तो कृषि भी कर लूंगा फिर वेदांत शास्त्र रखूंगा ऐसे भी दुराग्रह करे तब कहते हैं कर लेना भी हमारा क्या करना तो सफल हो जाए तो भला देगा ऐसे दुराग्रही को हम लोग कुछ कर नहीं सकते न सत्तानुसंधान अतिरिक्त आराध्य था न त्याज्य सत्तानुसंधान से सिर्फ आराध्य को जैसे न त्यागा जाता है एवं इतर शास्त्रार्थ अभ्यास होगी कृषा नहीं कल इतर शास्त्र का अभ्यास करना न्याय दान योग इनके अभ्यास करते रहूंगा तब कहते हैं क्रियता आग्रह कुरवाण प्रति ऐसा आग्रह करने वाले के प्रति क्या जवाब दे देखो आहारादित्यजन जीव छात्रांतरम जजम किम न जीवती नैवम करो शत्र दुराग्रहम अरे आहार त्यागने से जिंदा ही नहीं रहेगा शरीर क्या दूसरे शास्त्रों को त्यागने से तुम्हारा शरीर जिंदा नहीं रहेगा ये क्यों दुराग्रह कर रहे हम तत्वानुसंधान कर आहार को करने का छूट इसलिए दे रहे हैं कि उसके बिना शरीर ही जिंदा नहीं रहेगा आप तो साक्षा करते से करूंगा अन्य शास्त्राभ्यास की इसलिए हम जरूरत नहीं कह रहे हैं कि उसके बिना तो हम जिंदा रह सकते हैं वही कह रहे हैं आहार आदित्य नहीं वीवे आप जिंदा नहीं रह पाओगे शास्त्रांतरम त्यजन खिन्न जीवती अरे शास्त्रांक त्यागते हुए क्या तुम जिंदे नहीं रह सकोगे अर्थ अवश्य जिंदे रह सकते हो ये नैवम करोशी अत्र दुराग्रह ऐसे मालूम होता है कि अन्य शास्त्रों को त्याग देने पर तुम जिंदे नहीं रह सकोगे इसे तुम ऐसे दुराग्रह कर रहे हो इसलिए ऐसा दुराग्रह उचित नहीं बल्कि अपनी स्थिति को ध्यान में रख करके अपनी स्थिति के अनुरूप जो करना है वो तो करना है ऊंच से पहुंचे को देखो जरूर वो प्रेरणा है हमारे लिए आदर्श है हमारे लिए नकल मत करो शास्त्र सिद्धांत या मैत्री करना मुलित तो उपेक्षा अपने से बराबर वाले हो तो मैत्री करो अपने से श्रेष्ठ देख के प्रसन्न हो जाओ और उनसे प्रेरणा लो उनके आदर्शों से सीखो और अपने से घृणित है नीचा है उनसे करुणा दया करो भगवान से प्रार्थना करो इनकी भला हो इनकी बुद्धि सदबुद्धि हो जाए भी आगे बढ़ो और जो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं उपेक्षा उनकी उपेक्षा मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा करुणा हो गया अपने से निचले वालों के लिए मुझे अपने पुष्ट वालों के लिए बराबर हमें मैत्री विपरीत में चलने वालों के ने बताया साधकों को इसको ध्यान रखना है और क्या आधार पर चलना कोई इसे दुराग्रह करता है तो ऐसे लोग दूसरे ऐसलों का संग बिल्कुल नहीं करना मुझे देखना भी नहीं कुछ भी करने तो बाढ़ में जाने दो उन पर दया नहीं करना है उनसे मित्रता नहीं करनी है उनको देखकर प्रसन्न भी नहीं होना तेरे जनका भी नाम तत्व विधान अपी आगे ना आपके जवाब अभी देखो अरे जनका भी नाम तत्व विधान अपी कथम राज्य परिपालना प्रवर्तन शंका वो तो मुक्त होने के बाद की बात मुक्त हो गए तो राजकर्म की वजह से उनके शरीर राज का जो लगा हुआ था आप विमुक्त होने की बात है ग्रस्त हो जाए कुछ हो जाए फर्क क्या पड़ने वो पहले नहीं पहले करोगे तो सीधा पाताल बोल जाओ जनता एक कथम राज्य दृढ़ बोधद तथा कृषि करो यदि पूर्व से अंतिम तर्क डाल दिया उसने जनता एक कथम राज्य जनता ने कैसा राज्य कर डाला कहते दृढ़ बोध उनको दृढ़ बोध हो चुका राज्यों के घोषणा कर दिया अभय प्राप्त हो उसी जनक हे जनक तुमने अभय को प्राप्त कर दिया अब और कुछ करना ना पिता किसी को ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलता ये हम्म। अष्टावक्र पिता के बना कोई प्रमाण नहीं ऐसा अच्छा हो गया गुरु माना कर यज्ञ तो सबके गुरु रहे हैं सब महापुरुष गुरु रहे जनक उसने कहा कि तुमने आदेव को प्राप्त कर लिया और जनक ने तब क्या हुआ कि शरीर या मन बुद्धि सारा राज्य सारा राज्य की जनता आपकी सेवा में दास भाव में मैं है में खत्म हो ऐसी स्थिति में रहकर गुरु को दी हुई दक्षिणा दी वस्तु को जो संभाल रहा था वह प्रारत उनके अपने खाई नहीं रहा उनका राज्य दिया उसने गुरु को दे दिया राज्य को खुद को दे दिया वहां पर ऐसा तो था खुद को मैं दास क्या प्रदान कह दिया मैं आपके आपके दास शब्द के लिए दे रहा हूं मैं आपका सेवक हुआ शरीर आपकी सेवा में और जनक क्या गए रहा जल कर दे अब तुम्हारे पास में जा रहा हूं तुम यहाँ चल हाथ में छोड़ अब गुरु का दिया हुआ था अब जो गुरु का है ना वो तो हमारा है नहीं ना वो शरीर उसका अपना था जनक का न राज्य जनक का था न जनता जनक के थे और सारा व्याज्ञ का हो गया है अपराध कर वजह से जन को उसको संभालना पड़ा वही कह रहे हैं उसके दृढ़ बोध था और कुछ भी वो करे उस बोध से हटने वाला नहीं है अच्छी है वो अच्युत हो नहीं सकता तो स्वरूप की च्युति न हो जिसको तो उसी का नाम अच्युता न की स्वरूप हस्ता अच्छुता जो अपने स्वरूप से कभी हटता नहीं विचलित नहीं हो जाता उसका नाम अच्छुत वो ऐसे दृढ़ बोध वाला था इसीलिए वो ऐसा कर लिया और आप भी कुतर्क करने वाले दुराग्रही अरे आप भी ऐसी हैं तो कोई वापस नहीं मुझे अर्थात यदि आपके पास दृढ़ वेदांत ज्ञान है तो तर्कम पढ़ा यद कृषि को तर्क पढ़ो पढ़ाओ कृषि करो व्यापार करो कुछ भी करो जो हो रहा है सब ठीक है यदि ऐसा दृढ़ ज्ञान है तो ये कंडीशन चलेगा दृढ़ पुरोग ज्ञानित्वा सा न बाधित अभिप्राय परिवर्ती दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान वाले होने से उन जनकार्यों को वह राज्य परिपालन आदि जो प्रवृत्ति है वह बाधिका नहीं थी परिमा भी दृढ़ बोध स्थिति है कुछ आर्थिक जो दुराग्रही वो कह रहा है मेरे पास ऐसा दृढ़ बोध है इति वदन संप्रत्या ऐसे कहते हुए दुराग्रही को कहते हैं फिर तो तुम भी तर्क भी करो कृषि करो गृहस्थी करो पचास बच्चे पैदा करो जो करो सब ठीक है मर्जी से तब मतलब तो जो संसार असारतम तो जन्म था तब कहते हैं फिर तो ठीक है भाई हम तो ऐसा पिछड़ तो गया अब दूसरी बात करना है कदा महाराज पर तत्विद संसार काम जानता एक बार तत्ववेदता को जो संसार में का प्रतीत हुआ उसके बाद व्यवहार कैसे कर सकता कुछ सूत्र प्रवृत्ति शब्द पुनः संसार में कैसे प्रवृत्त हो सकता है ऐसे जवाब देते प्रारब्ध से अवश्यम भावी फल तत्व प्रारब्ध जो है ना अवश्यम बल देने वाला आपके प्रारंभ में है राज्य पालन है तो ब्रह्म ज्ञान के बाद वेदांत अनुभूति के बाद स्वरूप होने के बाद जन्म के बाद भी हाँ, राज्य पालन करोगे कार्यक्रम नहीं नहीं बोलेगा भोगेण तत्क्षयाय प्रवृत्ति भोग के द्वारा ही उसका क्षय होता है और कोई रास्ता नहीं नहीं छुट्टी और चार जन्म है तो चार जन्म भोगना पड़ेगा उसके बाद जो प्रार्थ का तो क्षय करने के लिए नहीं था वो तो प्रायश्चित था ब्रह्म ज्ञान के लिए था प्रायश्चित असल उन्होंने क्या किया बौद्ध गुरु से पढ़े कुमार भट्ट की बात है कुमार भट्ट जी बौद्ध गुरु से पढ़े तो बौद्ध के पास गए अपने आप को ब्राह्मण बोले तो झूठ बोले झूठ बोल के किस से प्रवेश कर गए बुद्ध का गुरुकुल में सारा पढ़ा पढ़ लिख लिया पढ़ लिख लेने के बाद उनको थोड़ा संशय हुआ बौद्ध गुरु को मुझे लगता ये जिस तरह का प्रश्न पूछता है जिस तरह से शास्त्र को समझ रहा है ये साधारण नहीं है कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है और रात्रि जंगल जाता है जब वह छुप करके संध्यावन पूजा पाठ भी कर लेता था पकड़ा गया था तो संशय हुआ लेकिन तो बोले कैसे गुरु को भी हिम्मत नहीं सीधे उसे कुछ करना साप न देते वो भी डर रहा होगा जो भी हो लेकिन उन्हें क्या करा वेद की निंदा करना शुरू गुरु ने ऐसी निंदा करने लगे कुमार भट्ट को सहन सबका एक एक तत्व एक एक शब्द का कुमार भट्ट मुंह तोड़ जवाब दे बहुत हार गए गुरु शर्मिंदा हो गया और तब अपने कहा तुम कुमार भट्ट हो तुम गुरु से पढ़ के गुरु से तर्क कर रहे हो गुरु को परास्त किया है महापापी है तो मैं पाप को स्वीकार करता हूं मेरे में पाप हुआ है तो ठीक था जब वहां से लौटे गुरुकुल से बाहर आ गए उन्हें ग्रंथ बना के पहले पूरे बौद्धों का खंडन उनने श्लोक वार्षिक में लिख दिया पूरी खंडन लिख लिखने के बाद अपना शिष्य प्रभाव परमेश्वर को ग्रंथ सौंप दिया घुसी में बैठ गए लेकिन मैंने गुरु का विरोध किया है उसका प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है भूताग्नि में शरीर छोड़ना इसलिए भूताग्नि में शरीर डाल भूत में आग लगाई उससे आग से पुरुष को तो ब्रह्म ज्ञान के नहीं प्रार्थना इसलिए नहीं वो तो पाप को प्रायश्चित गुरुद्रोह तो के तो पाप को प्रायश्चित गलत बात तसे तत्क्षयाय प्रवृत्या मिथ्यात्वासनादाढ्ये प्रारब्ध क्षयतांक्षया अक्लिश्यंत प्रवर्तन्ते स्वस्वकर्मानुसारतः मिथ्यात्व वासना दार्ढ्य मिथ्यात्व की वासना की दृढ़ता के लिए प्रारब्ध क्षय का मिथ्यात्व की वासना जब दृढ़ है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रारंभ कर्म की वजह से इस प्रारंभ क्षय के लिए कुछ भी हो रहा हो उससे हमारे कोई परेशानी नहीं क्यों मिथ्यात्व की वासना हमारे अंदर दृढ़ है तो मिथ्यात्व वासना डाल दिए प्रारंभ क्षय कांक्षया प्रारंभ क्षय की आकांक्षा से अक्लेश उनको कोई क्लेश होगा ना क्योंकि पता सब तो कुछ मिथ्या है अकृष्यंत स्व स्व कर्मानुसार प्रवर्तन से अपने अपने शरीर की प्राण कर्मानुसारेण ये अलग अलग कार्य भले प्रवृत्त होते रहते हो उससे उनको कोई क्लेश लेकिन होता नहीं तरी अनाचार भी प्रवृत्ति अरे प्राण कर्म कोई अनाचार लिखा होता तो अनाचार भी होने लग जाएगा इत्याशंका कभी दो जवाब है एक जवाब दे रहे हैं या फिर प्रसंगी जवाब प्रश्न जवाब कारण क्या है कि जो मुक्त हुआ है जिस अंतिम शरीर जिसके प्रार्थन की वजह से उसको जिनमुक्ति प्राप्त हुई अनुभूति हुई है स्वरूपता स्मृति जो दूर हुई स्मृति हो रखी है वो जो शरीर का कर्म जो तय हुआ था जिस पूर्व जन्म में और वह अनेकों जन्मों का जो वेदांत अभ्यास की वजह से हुई है भगवान के अनेक जन्म संसिद्ध एक जन की कहानी तो है और जो अनेकों जन्मों से सात्विक जीवन व्यवहार किया हुआ है जिसके वजह से अंतिम जन्म का प्रारंभ कर्म मुक्ति दिलाई है क्या उस प्रार्थ कर्म के अंतर्गत अनाचार योग्य कर्म रहेगा असंभव कि अनेकों जन्मों से उसने अनाचार किया ही पूरी सात्विक जीवन रहा जब तब जा करके वो अंतिम जन्म में ज्ञान होता है और उसके प्रार्थम में से वो विग्रह मुक्त हो जाता है जब ये श्रुति स्मृति से सिद्ध है तो प्रश्न ऐसे उठ सकता है कि जीवन मुक्त का शरीर जो प्रार्थम के अंदर चल रहा है उसमें अनाचार हो जाएगा ये प्रश्न ही तुम्हारा गलत कदाचित प्रसंगो माशंग्य स्वकर्म वशवर्ती नाम न शक्य कर्म वार्वहितुम अति प्रसंग मात्र सबसे बड़ा जवाब दे दिया देखो भाई ये अति प्रसंग शंका है ये नहीं करना ऐसे ज्ञानी पुरुष के प्रार कर्म में अनाचार का भी कर्म हो ये असंभव है बिल्कुल नहीं हो स्वकर्म ना अपने प्रारकम जो वश में आकर के प्रवृत्त होता हुआ शरीर वाले ज्ञानी पुरुषों के अंदर में भी अनाचार का प्रारकर्म रहेगा यह कल्पना भी कोई नहीं करेगा क्योंकि अनेक जब लगा करके परिश्रम करके अनेकों जन्मों से वेदांत ने अभ्यास किया हुआ है तथा बुद्धि योगम तम भगवान कहते हैं पूर्व जन्मों में जिसने वेदांत का अभ्यास किया उसी को वह बुद्धि योग दोबारा देता है ऐसे भगवान खुद ही जब कह रहते हैं जिस व्यक्ति के अनेकों जन्म वेदांत अभ्यास चला हुआ है उस व्यक्ति के प्रारंभ कर्म में अंतिम जन्म में आकर के अनाचार का कर्म हो ऐसे आशंका करना बिल्कुल उचित एक जवाब मुख्य जवाब दे दिया और यदि है यदि कोई दुराग्रही कहते नहीं मानते मान लो हो जाए तो हो जाए तो फर्क तो पड़ता है मिथ्या तो उसके लिए उसके लिए जगत ही नहीं रह गया है किसी के दृष्टिकोण में दिखाई भी दे ये ज्ञानी का शरीर है कहा का चल रहा है और इस शरीर से कर्पण वजह से अनाचार हो गया है किसको दिख रहा है इसे अज्ञानी को जो दिख रहे हैं उनकी दृष्टि में क्या होगा वो मिथ्या इसलिए अथवा भले हो भी जाना चाह ये न सचेत कर्म वारितुम प्रारत कर्म को वारण करना किससे संभव किसी से भी संभव नहीं इसलिए वो तो होके रहेगा यदि ज्ञानी पुरुष के शरीर में कोई अनाचार का प्राण कर्म है ही है तो हो भी जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं क्योंकि तो वह कर्म को लेकर उसे भावना नहीं करो मेरे से पाप हो गया ऐसा कभी नहीं सोचेगा क्योंकि वो भी मिथ्या दिख रहा है असल में कर्म का असर पर तब करता जब आप उसको स्वीकार करते जैसे कोई आदमी वहां जा रहा है उमा बहन की रहा है आपको ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है है ना और आप खड़े वहां पर और आप देख के बोल रहा है आपको भी लग गया आपको लगा कि मेरे को ही दे रहा है ये आपने ऐसे मान लिया कि मेरे को दे रहा है तब लड़ाई हो जाएगी जब तक ये नहीं मान रहे हैं तो दे रहा ठीक है पागल है जा रहे पीले बक करके जा रहे जा रहे ऐसे जब कहोगे आप कोई असर करेगा वो जब ये महसूस करोगे मेरे को गाली दे रहा है तब लड़ाई शुरू हो मैंने स्व संबंध जोड़े बिना उस व्यवहार का कोई असर आप पर नहीं होता असर तब होता है जब उसके साथ आप संबंध जोड़ लेते हैं मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर लिया आपने जोड़ लिया तो कहानी खराब हो गई आप समझोगे व्यवहार में खेल प्राप्त कोई असर नहीं करेगा असर हो रहेगा मतलब यह है आपने उसको अपने लिए स्वीकार कर लिया इसमें का कहना है कि देखो अस्तुवाक्य न शक्य कर्म वार तो प्रारध अति प्रसंगों में क्या प्रारध वसाद अति प्रसंग हो गया यदि कहोगे इतना अंगी करोगे तब तो हो कोई मुझे आपत्ति नहीं है ज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी तो प्राणकर्मणि अवश्य भोक्तव्य तया समान है तो ये कुतो वैलक्षण सिद्धि फिर पूर्व पक्ष कहता है फिर ज्ञानी का प्राण अज्ञानी का प्राण कर्म दोनों अवश्य भोक्तव्य है फिर तो समान हो गया इन दोनों विलक्षण का क्या है विलक्षण तो यही है ज्ञानी को स्व संबंध ग्रहण नहीं करता अज्ञानी को स्व संबंध ग्रहण करके रोकता है तीसरे अंतर शरीर में कष्ट हो रहा है बीमारी है दुख देख रहा है ज्ञानी को भी है अज्ञानी को भी दोनों के ये एक जैसा है दोनों मरीज है दोनों को दो बेड में डाल दो अगल बगल में अस्पताल में डाल दो एक हाहाकार मच रहा है दूसरी दूसरा भी हाहाकार मच रहा है मान लो लेकिन दोनों के ज्ञान में अंतर नहीं हाँ वही कहेंगे ज्ञानी भोक्ता को दृश्य मान करके और अज्ञानी भोक्ता उसको अपना सत्य मानता वही करें ज्ञानी और अज्ञानी छात्र समय प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानो धैर्यात मूढ़ क्लिश्यत धैर्यत ज्ञानी और अज्ञानी क्षेत्र समय प्रावृत कर्म ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की प्रावृत समान है अंतर कहा है ज्ञानी नो न क्लेश ज्ञानियों को क्लेश नहीं होता क्यों धैर्य इसके लिए है वो जानता है मिथ्या दृश्य आगमा पानो नित्या शांति ये सब आने जाने वाले हैं इनकी बातों मत ये आते हैं तो कुछ बोलते हैं जाते तो कुछ और बोलते हैं इनकी समस्या ही ऐसा संसार ही ऐसा आती तो बड़ी श्रद्धा होती है खीर भी खिलाएंगे आपको दूध भी पिलाएंगे दही भी पिलाएंगे सब कुछ करेंगे आपको तो जाकर जा गाली देकर बोलते हुए जाएंगे बेकार आदमी ये दुनिया ऐसा हाँ? हाँ, काम ना भी हो तो भी मतलब सिद्ध हो नहीं रहा ना मतलब सिद्ध हो जाए तो न सिद्ध हो जाए तो दोनों तरह यही होगा मैंने पिछले सत्रह साल से देख रहा हूँ इसे हम जानते सारे विद्यार्थियों तो में एक ही हाल सब आते हैं तो बड़ा मीठे मीठे जाते हैं तो कड़वे कड़वे दोनों देश हमारे बड़ा मिठाई भी कड़वा इसे फर्क कुछ नहीं पड़ता संसार के नियम आगमा पाए अपना कर्तव्य करो एक इच्छा है देखो को एक दृश्य से तो एक डिग्री से क्योंकि थोड़ा उन्नीस बीस का फर्क होता है कहीं अठारह बीस का फर्क होता है तो मीठे मीठे गाली देना अलग होता है कड़वी गाली देना अलग होता है बात मीठी बोल रहे हैं लेकिन तो उसमें वो जहर रख करके बोल रहे हैं बहुत बहुत ही बड़ा लक्षण लोग एक से एक लोग आए गए हमारे पास सब देखा है अब ऐसा नहीं लगता आए तो ठीक जाए तो ठीक लोग रोकते हैं तो हम मत रोको रोकने लायक को रोका भी जाता है ऐसी बात नहीं नहीं रोकने लायक को तो जैसे जाने के बाद कहेगा तुरंत हाँ बेटा अब भी चल रहा जल्दी टेम्पो बुला दो टिकट दे दो जो हर व्यवस्था कर देते दो जल्दी जाए देखना पड़ता है ना हर चीज अनधिकारी अधिकारी साधक साधक सब विचार करना पड़ता है और कोई भी मना तो करना नहीं ये सब बातें तो नहीं थी ना समस्या चाहिए और मीठे बन गया थे तो पता तो चलता है सब काल नहीं बन गया आते लगा लो गप्पे हुए आते हैं तो लगता है सब ये भी जिज्ञासु ये भी जिज्ञासु वो भी मुमुक्ष वो भी मुमुक्ष है तब पाले पता है कोई मुमुक्ष नहीं कोई जिज्ञासु नहीं कोई मुमुक्ष नहीं सब राक्षस है बड़ा मुश्किल इंसान बड़ा ये ज्ञानी का प्रारूप है ये दृश्य को देखना पड़ता है ये भी भारत कर्म के अंतर्गत है लेकिन दृश्य चित्त ज्ञान में लेते एक और आया एक और राक्षस आया एक दूसरा आया इसको भी देख लो इसके साथ कुछ दिन जी लो है नहीं फर्क क्या पड़ता ये वेदांत के क्षेत्र का यही है न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्य ज्ञान के धैर्य है इसमें क्लेश नहीं होता क्योंकि मूड अक्ष्य धैर्य का मूड क्या होता है उधर क्लेश होता बड़ा कुधर तो चला गया गाली दे गया निर्भर आरोप लगा के चला गया दिन रात दिमाग खराब रहेगा ब्रह्म को देखना सारे दृश्य है वो ब्रह्म है नहीं वो तो ब्रह्म कुछ नहीं है वो दृश्य है हम तो खुद है हम उसमें क्या देखेंगे अरे खुद ब्रह्म है हम किसी क्यों देखने जाएंगे खुद ही ब्रह्म है हम क्यों किसी और ब्रह्म को देखेंगे खुद को दूसरे में क्यों देखा खुद में दूसरे में देख रहा है दूसरा है ही नहीं वो दो तो कहानी बता है दूसरे में देखना ही है दूसरा है ही नहीं देख हमें वह द्वितीय ब्रह्म हमें वह कहानी खत्म दूसरा है जो दिखाया दे रहा है मिथ्या एक मिथ्या पदार्थ है दूसरे मिथ्या पदार्थ तीसरे मिथ्या आ रहा है जा रहा है मिथ्या का वस्तु आ रहा है तो अंदर भी है और वही बाहर भी कर रहा है